भांति इत्येतद्यते तत्र शतमाध्याये सप्तममतः पठ्यते आज यजुर्वेद के अध्याय का सातवां मत का स्वाध्याय कया वर्तमान गायत्री छन्दः षट्यशब्दो वर्तते पुनः तमेव विद्यमान गृहरूपी विषय को इस मत में कहा गया ईश्वर हमारी रक्षा करता है प्रार्थना है कि हे ईश्वर आप हमारी रक्षा कैसे करते हैं ये हमको हमें भी ये जान लेते हैं ईश्वर हमारी रक्षा ऐसे करता है तो इसके जानने से श्रद्धा उत्पन्न होती है विश्वास होता है व्यक्ति का मन आत्मा ईश्वर की ओर आकृष्ट नहीं होता इसमें एक कारण है वह ईश्वर की विशेषताओं को नहीं जानता हम सभी लौकिक वस्तुओं की विशेषताओं को जानते हैं जिन वस्तुओं की हम विशेषताओं को जानते हैं उनकी ओर हमारा मन आकृष्ट होता है उन वस्तुओं के लिए हम जीवन का बहुत सा भाग लगा देते हैं माता पिता अपने बालक बालिकाओं के लिए चालीस पचास वर्ष तक लगा देता है और उनको पैरों पर खड़ा होने के लिए अपने सामर्थ्य लेके चलने के योग्य बनाने के लिए प्रयास करता है स्थिति हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि बुढ़ापे में मेरी ये सेवा करेंगे पर दूसरी दृष्टि से भी जब वो निष्काम भावना से करता है तब भी उसके मूल्य को वो जानता है और अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए जब बच्चे का पालन पोषण करता है तब भी उसकी विशेषताओं को वो जानता है यदि व्यक्ति परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करता है इसमें से कुछ भी भाग को जान लेवे तो निश्चित बात है कि परमात्मा की ओर हमारा आकर्षण हमारा प्रेम होगा मन के न लगने में एक बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति ईश्वर की विशेषताओं को गुणों को नहीं जानता जितना जितना व्यक्ति ईश्वर के गुणों को जानता जाता है विशेषताओं को समझता जाता है उतना उतना उसकी ओर का मन स्वतः लगता है और जितनी और अधिक विशेषता जानता है तो उसके पीछे तो कोई उसको ईश्वर की वजह से हटाना चाहे तो भी नहीं हटता ये जो व्यक्तियों का प्रश्न खड़ा रहता है कि मन नहीं लगता इस मैं इस कारण को याद रख लेना क्या समझ में आया मन न लगने के कारण को याद रखना क्या कारण है ईश्वर के गुणों को उसके उपकारों को ईश्वर के सामर्थ्य को ईश्वर की क्रियाओं को व्यक्ति नहीं जानता नहीं समझता इसलिए ईश्वर में प्रेम आकर्षण नहीं होता ये कारण है यदि हमें ईश्वर की सहायता से कुछ भाग ज्ञात हो जाए पता चल जाए कि ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है तो हम ईश्वर के उपासक ईश्वर के भक्त बनेंगे इसलिए कहा कि हमको वो चीज बताओ जिस क्रिया से जिस पद्धति से आप हमारी रक्षा करते हो वो बताओ ईश्वर को चित्र अद्भुत विचित्र कहा जाता है भी ये भाई हम जो काम करते हैं प्राय क्रियाएं करते हैं ऐसे हाथ मारते हैं उठ के उस कोने पर चले जाते हैं कोई चीज उठा के लाते हैं कोई फेंकते हैं आप देखेंगे कि ये दौड़ धूप क्रियाओं की हम करते हैं तब कोई काम हो पाता और आप देखिए ईश्वर ऐसे खड़ा है अपना ही और सारे काम करता है बताओ कैसे करता है तो बड़ी विचित्र बात है हिले नहीं झुले नहीं और काम सारे कर डाले कहते ये बात दिमाग में नहीं आती आती हो तो बताओ किसी नहीं संकल्प कैसे उदाहरण जो कोई वो तो प्रतिज्ञा मात्र है न्याय की बात चलती है यहाँ तो पांच बातें कहो अपनी बात को समझाने कैसे तो रिमोट कंट्रोल का संकल्प है रिमोट कंट्रोल जो दबाना पड़ता है हाँ हाँ अच्छा वो भी बात क्रिया करनी पड़ती है <laughs> इसे ध्यान दिया करो उदाहरण का ध्यान देना क्रिया कर दी और उसने कर दिया वो आपने अंगूठा मारा नहीं इसमें जिसमें कुछ भी नहीं मारा जाता वैसा बताओ देखो वो धारण सर्वांश में तो दे नहीं सकते क्योंकि वही पदार्थ वही बन जाता एक चुंबक यहां है, है? तो सुई इसके पास में रखी है उस चुंबक को आपने सुई के पास में रख दिया कल्पना कीजिए और रखते ही रखने के पीछे वो चुंबक क्या काम करता और क्रिया कुछ भी नहीं करता वो ये नहीं खींच लेता ये आंशिक उदाहरण है वो एक देशी है हमने उसको रखा है हैं और ईश्वर सर्वदेशी है ईश्वर को रखने की बात ही नहीं आती सर्वदेशी होने से उस चुंबक को तो हमने लिया के रखा ईश्वर को लिया के रखने की जरूरत नहीं रखा रखा है, है? अच्छा फिर ये चुंबक जो है ये जड़ है और ईश्वर चेतन है ये उसमें अंतर और ऐसे बिना हिले जुले सारे काम कर लेता है जो व्यक्ति अल्प शक्ति रखता है और जो एक देशी है उसको ऐसी क्रिया करनी पड़ती है क्या समझे उसको ऐसी क्रियाएं तो इसलिए हमको समझना है कि बिना ही हिले जुले ईश्वर हमको सुख देता है आनंद देता है ज्ञान देता है ये सामर्थ्य ईश्वर में है यदि हमको ये पता चल गया तो ईश्वर हमको ज्ञान देता है आनंद देता है बल देता है तो हमारी रुचि श्रद्धा इसमें अवश्य हो जाएगी ये दिमाग मानी चाहिए ये बात ये सभी को मिलता है बिना मांगे जो नहीं करता उसको मिलता ही है वो जो आप कह रहे हैं ना वो बहुत मोटी बुद्धि की बात है ये कहने की बात तो है व्यक्ति के हृदय को कहां प्रभावित करता है ये ये सिद्धांत प्रभावित नहीं कर रहा उसको कहने की बात है सुनने की बात है जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है और उससे प्रभावित होता है पिता पढ़ाता है दस लाख रुपए खर्च करता है उससे जो बच्चा प्रभावित होता है ईश्वर से प्रभावित कहां होता है कोई भी नहीं होता मां के कहने से भी सारा परिवार जोर लगाता तब भी वो संध्या करने के लिए तैयार चंडीगढ़ में पढ़ी लिखी लड़की उसने इंजीनियर किया था और कहा जी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना किया करो क्या समझते वो वो रोने जैसे लग गई क्यों उसको कोई शिकाया नहीं समझाया नहीं समझ में आया नहीं और कहने लगे तुम तो मेरे ऊपर लाग रहे हो भक्ति करो क्या जरूरत है तुम अपनी भक्ति से काम चला लो हम बिना भक्ति के चलाएंगे <laughs> वो मुझे कहती है तुम्हारी भक्ति अपनी कर लो तो तुम उसको उससे राजी हो जाओ हम खाने पीने से दूसरे राजी हो जाए क्या जरूरत है भक्ति की तो इन बातों को समझने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है ये लोग क्यों नहीं मान लेते लाखों वैज्ञानिक ये भगवान विधि पूर्व ज्ञान विज्ञान देता है दिमाग में नहीं आ रही इनके समझ में नहीं आ रही बात और है क्या कुछ भी नहीं लाखों वैज्ञानिक लोग कितने बुद्धिमान है संसार की एक एक पंखड़ी फाड़ के रख दी अपनी दृष्टि से इन्होंने आकाश पाताल को कितना खोजा है पर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है कि भगवान अध्यापक की तरह विद्या पढ़ाता है बताओ कोई मानता होता हो मान नहीं कोई वैज्ञानिक ऐसा होता इतना दिमाग उनका काम नहीं कर रहा इसको जट मान लेते हैं कि अपने आप विकसित हो गया अपने आप आ गई विद्या अपने आप मनुष्य बन गया उसका इतना दिमाग नहीं है कि अपने आप कैसे बन जाएगा कोई मोटी बुद्धि वाला व्यक्ति भी ये देख लेता है ये आंख नाक कान की रचना इतनी विचित्र है मनुष्य को जानता नहीं अपने आप बनती नहीं तो वो विवश होकर कहता है कि ईश्वर मान नहीं आपके साथ भी तो हालत हो मैं ढूंढता हूं कई बार इन विषयों को खोज करता हूं कि मैं ईश्वर को क्यों मानू क्या कारण है ईश्वर को मानू प्रमाण जो है उसको विवश कर देते हैं व्यक्ति को आप यदि ईश्वर को नहीं मानते तो मेरी बातों का उत्तर दो हम अपने आप से पूछते हैं आप अपने आप से जब तक नहीं पूछेंगे इस परिणाम को नहीं निकाल पाएंगे विष्णु की सहायता लो वेद की भी सहायता लो और ये नास्तिक व्यक्ति स्वयं नहीं मान रहा हो तो क्या कहो अपने को क्या कहोगे तो ये बताइए आंख नाक हाथ पैर कैसे बन गए ठीक है ईश्वर को नहीं मानेंगे कोई उत्तर नहीं इसके पास फिर कहता चलो फिर मानना ही पड़ेगा आपको मानना ही श्रद्धा से मान लो बहुत अच्छी बात है और ना श्रद्धा से मान लो डंडे से मान लो तब भी अच्छा है एक बच्चा उपदेश से नहीं मानता प्रेम से नहीं मानता थप्पड़ से मान लेता है इसमें कहा ईश्वर हमको आनंद देता है कैसे देता है आनंद कभी देते देखा आपने तो ईश्वर को आनंद बताओ रात के अंदर पानी से आनंद मिलता है वो तो मिलता है दिखता भी है ईश्वर कब प्यार जाता है जब आनंद दे के दुख हटाता है ये बताओ ये अपनी बात बताओ देखा हो तो कभी अनुभव ही बता दो अपना ये मुझे ईश्वर देता है मैं हलवे की तरह खाता जाता हूं हाँ, ऐसा बताओ अच्छे कार्य हाँ ये अनुभूति मोटी सी आपको होती होगी जब अच्छा काम करते हैं ना आप अच्छी योजना बनाते हैं उस समय मन में उल्लास निर्भयता निशंकता ये भाव उभरते भरते ऋषि ने कहा ये ईश्वर की ओर से उभरते ये ईश्वर की ओर से उभरते जीव की ओर से नहीं दर्शनकारों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया जहां गुण होता है वहां गुणी होता है गुण का पता चल जाए कि गुण कहीं से आ रहा है तो एक निर्णय हो गया तो इसका गुण का गुणी कोई है ये उल्लास कहीं से आ रहा है ये निर्भयता कहीं से आ रही है ये ज्ञान कहीं से आ रहा है तो इस ज्ञान का दाता कहीं तो ऋषियों ने कहा कि गुण जहां हो और गुण का पता चल जाए तो गुणी का पता चल जाता अच्छा यहां आंख नाक की रचना गुण है या नहीं है नहीं? ये बड़ी वैज्ञानिक है कि कम गुण का पता चल गया तो गुणी का भी पता चल पता चल गया भले ही आज आपको दिख नहीं रहा अग्नि पर ये संसार की रचना आपको विवश कर देगी यदि आप जिज्ञासु हैं तो और टाल मटोल करना चाहते हैं संसार में लगे रहते हैं वो लुके बैल की तरह तो फिर तो ही समझ में आएगा थोड़ा सा सोचा करो गृहस्थ में आए गृहस्थ के काम करो पर गृहस्थ के काम करना मुख्य नहीं है सन्यासी बन जाना मुख्य नहीं है मुख्य है ईश्वर को प्राप्त करना गृहस्थ में आए इसलिए आए कि भाई गृहस्थ के धर्मों को करते हुए हम पांच महायज्ञ करते रहेंगे और धीरे धीरे धीरे धीरे हम वैराग्य को प्राप्त करेंगे इसलिए गृहस्थ में आता है अब आप अपना आत्मनिरीक्षण कर लो आपके है किसी के दिमाग में वो एकाध मिल जाए हाँ जी तो उसमें सोचो विचार कि हम गृहस्थ में रहते हैं गृहस्थ में रहते रहते काम करते करते हम जिस ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं इसको हमने जानना मन बना रहे और फिर धीरे धीरे शिक्षण शिविरों में आओ फिर दर्शनों को पढ़ो फिर वेद को पढ़ो और आगे के ध्यान हो हो के देखो फिर आपको ये समझ में आएगा कि परमात्मा हमको कैसे आनंद देता है कैसे ज्ञान देता है आगे चल के जब समाधि लगती है वो विशिष्ट आनंद होता है उस समय तो ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम उत्तम पदार्थ खाते हैं हलवा आदि और खाते ही हमको पता चलता है और उसका आनंद विशिष्ट हमारे अनुभव में आता है और समाधि प्राप्त व्यक्ति को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद बाह्य पदार्थ की तरह आता है और जब समाधि टूटती है तो आनंद नहीं रहता इसी प्रकार से ज्ञान भी ईश्वर जो हमको ज्ञान देता है वो ज्ञान भी इसी प्रकार से आता है तो इसलिए हमें कया तुम न उद्यारी किस रीति से क्रिया से रक्षादिकों के द्वारा मंद से वृषण हमको आनंद देता है सुखों की वर्षा करने वाले और किसको किस चिन्ह को देता है श्रोत्री भय आभर जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं उनको ईश्वर कैसे आनंद देता है ये ईश्वर मुझे वो बताओ तो आप इसको यहीं पर विराम दें